जैन बौद्ध कथा पर सदगुरु ओशो का प्रवचन ट्रैक 20 समग्रता ही है मार्ग भाग दो एक राजनीतिक चुनाव के लिए खड़ा हुआ था वो मुझसे पूछने आया है कि क्या मैं उसे वोट करूंगा तो मैंने कहा कि तुम जरा देर से आए तुम्हारा विरोधी पहले आ गया और मैंने उसे वचन दे दिया तो उस राजनीतिक ने कहा आप भी कहां की बातों में पड़े राजनीति में वचन और पालन करने का कोई सवाल नहीं वचन और कृत्य में राजनीति में बड़ा फर्क है तो मैंने उससे कहा कि अगर ये नियम तो मैं तुम्हें भी वचन दे देता हूं तब कोई अड़चन नहीं है राजनीति झूठ का जाल है बाजार भी झूठ का जाल है वहां सफल होने का अर्थ हृदय की दुर्बलता को खरीद लेना सफल व्यक्ति हृदय की बीमारी से मरेंगे सदगुरु के सामने तुम जैसे ही झिझके तुम्हारी चेतना में जरा सा कंपन हुआ कि उसे अनुभव होता है सदगुरु से ज्यादा बड़ा लाइट डिटेक्टर खोजना बहुत मुश्किल है लाइट डिटेक्टर को तो धोखा भी दिया जा सकता कुछ लोगों ने धोखा दे के दिखाया है क्योंकि अगर तुम ठीक से अभ्यास करो तो तुम धोखा दे सकते हो मशीन मशीन और जो बहुत हाथी नाम चोर है वो उस पर अभ्यास करेंगे ही क्योंकि आज नहीं कल अदालत में अगर मशीन ही पकड़ने वाली तो मशीन पर अभ्यास किया जाता है निरंतर अभ्यास से ऐसी स्थिति आ सकती है कि मशीन न पकड़ पाए तुम झूठ इतनी सरलता से बोल सकते हो कि झटका ना लगे यह झटका इतना बारीक हो कि मशीन के पकड़ के बाहर हो जाए लेकिन गुरु कोई यंत्र नहीं है तुम कितने ही बारीक रहो तुम पकड़ लिए जाओ झिझक सब कह जाएगी झिझक सब कह जाती सिर्फ झिझका तो उमोन ने उसकी आंखों में ध्यान से देखा उमोन की ये चुप्पी बड़ी महंगी पड़ी होगी बड़ी गहरी हुई होगी सिर्फ पसीने से तरबतर हो गया होगा बहुत बार मन हुआ होगा कि कह दे कि नहीं ये मेरे ही वचन ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं इसलिए गुरु ने आंख में गौर से देखा ताकि शिष्य को धोखा देने की संभावना न रहे जब कोई प्रज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति कोई प्रबुद्ध पुरुष आंख में गहरे देखता है तो तुम्हारे झूठ की तरफ झुकने की संभावना कम होती जाती है वो तुम्हें धक्का दे रहा है सत्य की तरफ उसका ध्यान तुम्हें सहारा दे रहा है ध्यानी होने की तरफ उसकी सच्चाई तुम्हें सरका रही है सच्चाई की तरफ उमोन ने ध्यान से देखा घबराकर शिष्य ने कहा हां यहां भी घबराहट नहीं निकला वो डर गया होगा उसे भी समझ में आया होगा कि बात तो पकड़ ली गई है पहचान तो मैं लिया गया हूं धोखा दिया नहीं जा सकता मुल्ला नसरुद्दीन एक बार पकड़ा गया चोरी का मामला था उसने चारों तरफ देखा जूरी में बारह स्त्रियां थी उसने मजिस्ट्रेट से कहा कि मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं मजिस्ट्रेट ने कहा लेकिन अभी हमने कुछ पूछा ही नहीं तुमने अपराध स्वीकार कर लिया उसने कहा अपने घर में एक औरत को धोखा नहीं दे पाता यहां बाहर यह असंभव है पहले से स्वीकार कर लो ठीक अगर कोई तुम्हारी आंखों में गौर से देखे धोखा देना मुश्किल हो जाता पुरुष स्त्रियों को धोखा नहीं दे पाते कारण क्या होगा बहुत कोशिश करते हैं लेकिन स्त्री बुनियादी रूप से पकड़ लेती कारण है स्त्री का प्रेम वो तुम्हें सीधी आंख में देख सकती है क्या तुमने कभी ख्याल किया कि जब भी तुम प्रेमपूर्ण नहीं होते तो तुम दूसरे की आंख में देखने से बचते हो या जब भी तुम झूठे होते हो तब तुम इस बाजू उस बाजू देखते हो तुम सीधा नहीं देखते पति को पता भी नहीं कि जब भी वो सीधा नहीं देखता तभी पत्नी उसकी पकड़ लेती कि मामला कुछ गड़बड़ वो यहां वहां देखता है आंख दर्पण और आंख में सब कुछ तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व स्त्रियां आंख देखने में कुशल हैं तुम्हारे पूरा शरीर धोखा दे सकता है क्योंकि बहुत स्थूल है आंखें बहुत सूक्ष्म है वो धोखा नहीं दे सकती और आंखों को धोखा देना सिखाना बड़ी लंबी प्रक्रिया है कि आंखें भी धोखा दें और चूंकि स्त्री तुम्हें प्रेम करती इसलिए तुम धोखा नहीं दे पाते गुरु को तो तुम धोखा दे ही ना पाओगे क्योंकि उस जैसा प्रेम तुम्हें कोई भी नहीं कर सकता वो असंभव वो घटना कभी नहीं घटी इस जगत के सभी प्रेम बहुत छोटे छोटे हैं गुरु के प्रेम का तो कोई मुकाबला नहीं गुरु के सामने तुम तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व भी आंख जैसा निर्मल दर्पण की तरह साफ दिखाई पड़ने लगता तुम सब तरफ से दिखाई पड़ते हो तुम यहां वहां देख के भाग नहीं सकते तुम कहीं भी भागोगे गुरु से बचना असंभव है एक बार तुम गुरु के पास पहुंच जाओ तो भागने का उपाय नहीं वो तुम्हारा पीछा करे शिष्य ने घबरा कर कहा हां चाह तो होगा कि कह दे नहीं इसलिए घबराहट पैदा हुई क्योंकि जब तुम सत्य को स्वीकार करने को राजी होते हो कोई घबराहट पैदा नहीं होती घबराहट पैदा ही तब होती जब तुम सत्य को स्वीकार करने को राजी नहीं होते जब तुम सत्य को स्वीकार करते तुम क्यों घबराओगे घबराना किससे सब घबराना अपने ही झूठ से घबराना है इसलिए जो आदमी झूठ बोल रहा है वो ना तो ठीक से सो सकता है ना आराम कर सकता है न ध्यान कर सकता है न प्रेम कर सकता है क्योंकि ये सब चीजें तभी संभव है जब घबराहट ना हो और जो आदमी झूठ बोल रहा है वो प्रतिपल घबराया हुआ है सत्य धर्म है इसलिए नहीं कि सत्य से भविष्य में स्वर्ग मिलेगा सत्य धर्म है इसलिए कि सत्य के कारण तुम्हें यही अभी स्वर्ग मिल जाए झूठ पाप है इसलिए नहीं कि नर्क ले जाए झूठ में तुम हुए कि तुम नर्क में पहुंच ही गए झूठ में जीने वाला व्यक्ति प्रतिपल नर्क में जीता है कोई दूसरा पैदा नहीं करता नर्क तुम्हारा झूठ ही तुम्हारे व्यक्तित्व को इतनी घबराहट से भर देता है कि तुम नर्क में जीते हो नर्क का अर्थ है घबराए हुए जीना स्वर्ग का अर्थ है निश्चिंत जीना स्वर्ग का अर्थ है ऐसे जीना कि जीवन में जीवन के अंतस्थलों में जरा सी भी लहर बेचैनी की ना हो एक गहन विश्राम हो जीसस अपने शिष्यों को बार बार कहते हैं आओ मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा कैसे जीसस विश्राम देंगे सत्य विश्राम का मार्ग झूठ तनाव का लोग मेरे पास आते हैं वो कहते हैं मन में बड़ा तनाव मन में बड़ी बेचैनी है आप कुछ करें मन में तनाव है इसका मतलब है तुम झूठ हो अब मैं क्या करूं मन में बेचैनी है तो उसका अर्थ है कि तुम जो भी कर रहे हो उससे जीवन तुम्हारा कंपित हो रहा है और अगर मैं उनसे कहूं कि तुम वो सब छोड़ दो जिससे जीवन में बेचैनी है वो कहते हैं ये तो मुश्किल है आपको ऐसी तरकीब बताएं कि मैं शांत हो जाऊं इस फर्क को आप समझ लें अशांत न हो उसकी तरकीब शांत होने की कोई तरकीब नहीं स्वस्थ होने की कोई तरकीब नहीं है दुनिया में बीमार कैसे ना हो इसकी तरकीब है बस जो बीमार नहीं है वो स्वस्थ है लेकिन तुम अपनी बीमारी का जो जो लाभ है वो लेना चाहते हो और शांत भी होना चाहते हो तुम असंभव की मांग कर रहे हो तुम चाहते हो दुकान भी चलती रहे झूठ भी चलता रहे धोखा भी चलता रहे और तुम शांत भी हो जाओ तुम जहर भी पीना चाहते हो और मरना भी नहीं चाहते तब तुम गुरुओं की तलाश में जाते तुम्हारी गुरुओं से आकांक्षा यह है कि वह असंभव कर दें तुम जहर भी पियो और वे तुम्हें मरने भी ना दें तुम जब भी अशांत हो उसका अर्थ है कि तुमने व्यक्तित्व के गलत आधार रखे तुमने मकान अपना रेत पर बनाया इसलिए जरा से हवा के झोंके में कपता है और गिरने का डर होता है या तुमने ताश का घर बना लिया है जो गिरेगा ही का घर बना के कोई मुझसे पूछता है कि इसको मजबूत कैसे करें इसे गिरा ही दो ये मजबूत होने वाला नहीं दूसरा ही घर बनाना हो तुम्हारे चित्त की अशांति केवल इतना ही बताती है कि तुम्हारा व्यक्तित्व गलत है शिष्य झिझका घबराया घबराहट में उसने कहा हां उसकी हां आधी थी और अगर ठीक से समझो तो ये हां हाँ भी गुरु की आंखों में झांकती हुई आंखों में निकल वाली थी अन्यथा वो ना कह देता ये हां भी उसकी अपनी नहीं थी क्योंकि जब तुम्हारी अपनी हां निकलती तब तुम प्रसन्न हो जाते हो हां से बड़ी प्रसन्नता जगत में दूसरी नहीं क्योंकि तत्क्षण तुम एक हो जाते तुम्हारे भीतर के सब द्वंद्व खो जाते हैं जब तुम कहते हो हां लेकिन ये भी गुरु की झांकती आंखों में गुरु देख रहा है गुरु का देखना इतना तीखा और पीना पहना था कि शिष्य ना ना कह सका चाहता तो ना ही कहना था इसलिए मजबूरी में कहा उसने हां ये हां बहुत आनंदपूर्ण नहीं हो सकी उमोन बोला तब तुम मार्गचित हो गए तुम्हारी हां भी अधूरी इसलिए तुम मार्ग शुद्ध हो गए काश ये हां पूरी होती तो भी मार्ग मिल जाता पहले तो तुम झूठ बोले पहले तो तुमने दूसरों के शब्द दोहराए पहले तुमने जो ज्ञान तुम्हारा नहीं था अपना बताया मैं तुम्हारी आंखों में झांका तो तुमने हां कहा वो हां भी ऐसे जैसे तुमने भय से कहा सुना मैंने एक अदालत में एक मुकदमा है जो मुकदमा है वो एक कार एक्सीडेंट का है एक गाड़ीवान अपनी गाड़ी लेकर रास्ते से जा रहा और एक कार ने आके उसे उल्टा दिया अदालत में कार के मालिक के वकील ने इस गाड़ीवान से पूछा जिसके हाथ पर टूट गए हैं पलस्तर बंधा हुआ है फ्रैक्चर हो गए इससे पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि दुर्घटना के ठीक बाद कार के मालिक ने तुमसे पूछा था कि चोट तो नहीं लगी तो तुमने कहा था नहीं लगी अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें इतनी भयंकर चोट लगी उस आदमी ने कहा हाँ, मुझे भली भांति याद है कि मैंने दुर्घटना के बाद कहा था कि मुझे चोट नहीं लगी पर तुम पूरी कहानी सुन लो फिर निर्णय ले लो मेरी गाड़ी उल्टी गाड़ी का बैल गड्ढे में गिरा दूसरा बैल गिरते ही मर गया एक बैल उल्टा चारों पैर ऊपर किए पड़ा सिर से लहूलुहान खून बह रहा मैं भी गड्ढे में पड़ा सब हाथ पैर टूट गया उठने की हिम्मत नहीं और इस कार का मालिक बाहर निकला घोड़ा तड़प बैल तड़फ रहा था इसने अपनी बंदूक निकाली कार से तड़फते हुए बैल को गोली मारी वो वहीं ठंडा हो गया और फिर इसने मुझसे पूछा कि तुम्हें भी तो चोट नहीं लगी तो मैंने कहा नहीं मैंने जरूर कहा लेकिन परिस्थिति नहीं तो मैं आज यहां होते ही इस उमोन के शिष्य ने हां तो कहा लेकिन गुरु की आंखें उनकी वजह से हां कहा यह हां अपने कारण न थी इस हां में कोई प्रसन्नता ना थी कोई प्रफुल्लता ना थी घबराहट थी शायद ना कहके ही यह ज्यादा प्रसन्न हुआ हो क्योंकि इसके अहंकार की ज्यादा पूर्ति होती है हां कहकर तो इसका अहंकार धूल दूसरित हो गया हां कहके तो ये फंस गया पकड़ा गया रंगे हाथ पकड़ा गया जैसे ही शिष्य ने हां कहा उमन बोला तब तुम मार्गच्युत हो गए कुछ समय बाद एक दूसरे गुरु शिशिन से अपने शिष्यों से पूछा शिशिन ने अपने शिष्यों से पूछा किस बिंदु पर उमोन का शिष्य मार्गच्युत हुआ था जैन फकीरों की यह पुरानी परंपरा है वे एक छोटी सी कहानी को गूंथते चले जाते सदियों तक पूछते और उस कहानी को आधार बना लेते अंतर खोज का ने अपने शिष्यों से पूछा कि बताओ किस बिंदु पर उमोन का शिष्य मार्गच्युत हुआ था साधारणता जो ऊपर ऊपर सोचेंगे उन्हें लगेगा शिष्य वही मार्गचित हो गया जहां उसने कहा कि बुद्ध का प्रकाश सारे जगत को आलोकित कर रहा है उसे उधार बात दोहरानी नहीं थी वही मार्गचित हो गया यात्रा शुरू से गलत हो गई ऊपर से देखने पर ऐसा लगेगा लेकिन यह ठीक नहीं है क्योंकि तुम चाहे कहो या न कहो जो उमोन के शिष्य ने कहा वो ना भी कहता तो भी मन में उसके गूंजता रहता वो उसकी दशा थी वहां मार्गच्युत नहीं हुआ वहां तो मार्ग पर था ही नहीं च्युत तो कोई तब होता है जब मार्ग पर हो इस बात को थोड़ा ठीक से समझ ले मार्ग भ्रष्ट होना सिर्फ सौभाग्यशालियों को मिलता है तुम्हारे तो मार्ग भ्रष्ट होने का उपाय भी नहीं अगर तुम मार्ग पर हो ही नहीं तुम भ्रष्ट कैसे हो जाओ भ्रष्ट तो वो होता है जो मार्ग पर हो और भटक जाए सिर्फ थोड़े से सौभाग्यशाली मार्ग भ्रष्ट होते हिंदू ज्योतिष में जहां बच्चों की जन्म कुंडली तय की जाती है इस बात को सौभाग्य का लक्षण समझा जाता कि अगर जोशी कह दे कि ये बच्चा पिछले जन्म का योग भ्रष्ट ये बड़े सौभाग्य की बात है इसका पहला तो मतलब हुआ कि ये मार्ग पर था भटक गया और जो भटक गया है वो वापस पहुंच सकता है लेकिन जो मार्ग पर रहा ही ना हो उसका पहुंचना बड़ा मुश्किल पहली घटना में तो शिष्य मार्ग पर था ही नहीं इसलिए भटकने का कोई सवाल नहीं खोता तो वही है जिसे मिल गया छूटता तो उसी से है जिसके हाथ में हो पहली स्थिति में तो शिष्य के पास कुछ था नहीं ना मार्ग था ना कोई संपदा थी उधारी थी उधारी का कोई भटकन नहीं होती बोलता न बोलता भटका शिष्य कहां भट्ट का शिष्य वहां जहां गुरु ने उसकी आंखों में झांका जब गुरु आंखों में झांक रहा था तब भी उसका हां पूरा न हो पाया भटका वहां गुरु की आंखें मार्ग थी गुरु की आंखों से उतरती हुई ज्योति मार्ग थी उस समय वो हृदय पूर्वक हां कह सकता था और मार्ग पर हो जाता शायद जन्म जन्मों की यात्रा पूरी हो जाती बड़ा मुश्किल है गुरु पाना जो तुम्हारी आंखों में झांके बड़ा मुश्किल है गुरु पाना जिसकी करुणा तुम्हारे भीतर उतरे और तुम्हें मार्ग पर लाने की चेष्टा करे वो उसको चूक गया वो उस क्षण को भी चूक गया जो दुर्लभ है जबकि रास्ता साफ था गुरु की आंखें खुली थी गुरु जब तुम्हारे भीतर झांक रहा था तब वो गुरु के भीतर भी झांक सकता था क्योंकि वो मिलन का क्षण था लेकिन गुरु तो उसकी आंखों में झांकता रहा रास्ता साफ रहा वो बच गया उसने हां भी कहा तो आधे मन से कहा यहां वहां देख कर कहा सीधा गुरु की आंखों में नहीं देखा जरूरत भी न थी हां कहने की अगर वो गुरु की आंख में ही ठीक से देख लेता तो गुरु उसे सुन लेता जो नहीं कहा गया ये कहा हुआ बेकार था अधमरा था इसमें कोई प्राण न थे वो कह रहा था बेबसी में क्योंकि गुरु सामने था और बच नहीं सकता था मुसीबत थी गुरु ने एक कोने में ले आया था और हां कहना ही पड़ा यह हां निकला नहीं यह भीतर हृदय का खिलना न था एक मजबूरी थी उपाय न देखकर बेबसी में उसने हां कहा काश वो प्रफुल्लित हो जाता काश वो गुरु की आंखों में देखता जैसा गुरु ने उसकी आंख में देखा दोनों की आंखें अगर मिल जाती तो शिष्य मार्ग पर हो जाता जहां गुरु और शिष्य की आंखें मिलती हैं वही मार्ग चुप गया कहा हुआ चुप शिष्य अपने शिष्यों से पूछ रहा है बताओ किस बिंदु पर उमोन का शिष्य मार्ग चुत हुआ था एक महान घटना घटते घटते नहीं घट पाई अघट घटने के करीब था और नहीं घट पाया गुरु ने झांका मार्ग दिया ठीक हृदय तक रास्ता साफ था कहीं कोई अवरोध न था गुरु खुला था क्योंकि जब तुम किसी की आंखों में झांकते हो पूरी तरह झांकते हो तब अगर वो चाहे तो तुम में झांक सकता है तुम्हारे हृदय तक पहुंच सकता है गुरु तो शिष्य के हृदय तक पहुंच रहा था लेकिन शिष्य छिटक गया उसने हां भी कहा तो वो आधा था झिझकते हुए कहा डरते हुए कहा उसकी हां भी उसे खिला ना पाई उसकी हां झूठी थी तुम्हारी आस्तिकता तुम्हें समाधिस्थ नहीं कर पाई तुमने ईश्वर को हां कहा है वो भी झूठा है वो भी आधा आधा है शायद किसी मजबूरी तुमसे तो बेहतर वो नास्तिक है जिसने पूरे हृदय से ना कहा कम से कम हृदय तो पूरा है तुमने हां भी कहा है लेकिन पूरे हृदय से नहीं कहा है किसी भय से किसी लोभ से तुमने हां कह दिया है तुम्हारा आधा हिस्सा ना कहता ही रहेगा जैसे ही गुरु की आंखें हट गई होंगी शिष्य फिर अपनी जगह वापस लौट आया होगा डगमगाया था हिला था फिर उसने अपनी स्थिति वापस ले ली होगी और उसने कहा होगा इस आदमी ने डरा दिया और डर की वजह से मैंने हां कह दिया ऐसा अक्सर होता है रोज का मेरा अनुभव कोई आता है उसकी आंख में मैं देखता हूं पूछता हूं क्या कहते हो सन्यास की तैयारी कभी कभी कोई मेरे डर में कह देता है कि हां लेकिन वहां पूरी नहीं वो मार्गच्युत हो गया अच्छा होता वो ना कह देता कभी कभी ऐसा घटता है कि कोई प्रफुल्लित हो जाता कोई पूरे आनंद से कहता है हां उसका रोना रोना कहता है उसके भीतर एक भी विपरीत स्वर नहीं होता कोई द्वंद्व नहीं होता कोई विरोध नहीं होता समग्रता से कहता है हां संन्यास और क्या है सन्यास कुछ और देने को है कि नहीं ये जो पूरी हां है सन्यास हो गया अब तो सब ऊपरी बात है भीतरी बात घट गई ये व्यक्ति संन्यास्त ना भी हो तो भी कोई हर्ष नहीं ये अब जैसा है सन्यासी ही होगा अगर तुमने एक बार भी पूरी हां कहने का आनंद जान लिया तो तुम आस्तिक हो जाओगे क्योंकि जब एक बार पूरी हां कहने से इतना आनंद मिलता है तो पूरे जीवन प्रतिपल हां कहने के महा आनंद को तुम न चूकोगे फिर तुम न छोड़ोगे आस्तिक का अर्थ है जिसने पूरे अस्तित्व को कहा हां जिसने ना कहना बंद कर दिया मौत आए तो भी आस्तिक कहेगा हां सुख आए तो भी कहेगा हां दुख आए तो भी कहेगा हां ना कहना ही उसने छोड़ दिया वो मार्ग पर आ गया हां मार्ग है शिष्य कहां च्युत हुआ जहां उसने हां भी कही और मुर्दा आस्तिक मत बनना मरे मरे किसी तर्क के आधार पर आस्तिक मत बनना अन्यथा तुम्हारी आस्तिकता बेजान होगी तर्क में कोई प्राण थोड़ी होते हैं आस्तिक मत बनना किसी भय के कारण चाहे बुद्धि क्यों ना खड़े हो सामने और अगर तुम्हारे भीतर ना हो तो ना ही कहना हां मत कहना क्योंकि झूठी हां कहीं भी ना ले जाएगी सच्ची हां भी बुद्ध से जोड़ सकती है झूठी हां भी नहीं जोड़ सकती तुम वही कहना जो ठीक तुम्हारे भीतर हो तुम अपनी प्रमाणिकता से मत हटना ये शिष्य प्रमाणिकता से हट गया अगर ना कहना था तो ना ही कहना था लेकिन बिना घबराए परिपूर्णता से इसने हां भी कही बेजान कही डरते हुए कही फूल खिल नहीं पाया कली ही रह गई कहां हुआ चित्त किस बिंदु पर जहां गुरु देख रहा था इसके भीतर और इस अपूर्व क्षण को भी ये चूक गया हां न कहने का सवाल ही न था गुरु ने एक मौका दिया था ऐसे मौके कभी कभी दिए जा सकते हैं रोज नहीं दिए जा सकते क्योंकि ऐसे संयोग का क्षण बहुत मुश्किल से आता है बोधि धर्म नौ वर्ष चीन में रहा और जब वो चीन छोड़ने लगा वापस भारत की तरफ यात्रा शुरू करने लगा तो उसने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया उनमें चार थे जो बड़े कीमती थे उसने पहले शिष्य को पूछा कि सार में कह दो कि मेरे तुम्हारे साथ रहने से क्या हुआ तो उस व्यक्ति ने कहा सभी तरफ एक का ही राज्य अद्वैत है बौद्ध धर्म ने कहा तुम्हारे पास मेरी चमड़ी दूसरे शिष्य ने कहा क्या हुआ मेरे साथ रहने से तो शिष्य ने कहा एक भी कहां है जब दो न हो तो एक भी कैसे हो सकता है बस है एक दो में कहने का कोई उपाय नहीं बोध धर्म ने कहा तेरे पास मेरी हड्डियां और उसने तीसरे शिष्य की तरफ देखा और पूछा कि क्या हुआ मेरे साथ रहने से तो उस तीसरे शिष्य ने कहा न तो एक न दो है न दोनों का अभाव सर्वज्ञ सब और सब दिशाओं में परम शून्य है शून्यता ही सत्य है अभाव सत्य है बुद्ध धर्म ने कहा तेरे पास मेरी मज्जा है और चौथे शिष्य की तरफ देखा और पूछा कि क्या हुआ मेरे साथ रहने से तुझे चौथा शिष्य सिर्फ बुद्ध धर्म की तरफ देखता रह गया फिर झुका और उसके चरण छुए बोधि धर्म ने कहा तेरे पास मैं हूं मेरी आत्मा है वो कुछ बोला नहीं उसने कोई उत्तर न दिया तीन च्युत हो गए बोधिधर्म जैसा व्यक्ति जब प्रश्न पूछता है तो उत्तर पाने के लिए नहीं तुम्हारा पूरा होना उत्तर होना चाहिए तुम क्या बोलते हो उसका कोई मूल्य नहीं क्योंकि बोला हुआ बुद्धि से होगा श्री बुद्ध ने कहा किसी के पास मेरी चमड़ी है ऊपर ऊपर किसी के पास थोड़ा सा भीतर का है हड्डियां हैं लेकिन है शरीर की किसी के पास और जरा भीतर का है मज्जा है लेकिन है शरीर की आत्मा नहीं आत्मा उसके पास थी जो चुप ही रहा जिसने जवाब भी ना दिया उसी ने जवाब दिया उसने अपने पूरे होने से जवाब दिया उसने बुद्ध धर्म की आंखों में देखा दो आंखें मिली दो आत्माएं एक दूसरे में लीन हुई दो सीमाएं टूटी वो झुका उसने पैर छुए धन्यवाद दिया उत्तर न दिया कृतज्ञता प्रकट की सिद्धांत न बताया कृतज्ञता को प्रकट करने का शब्दों में कोई उपाय भी तो नहीं और उत्तर बोधिधर्म मांग भी नहीं रहा था यह कोई परीक्षा न थी जहां तुम्हें शास्त्रों का उल्लेख करना था जहां तुम्हें शब्दों के जाल रचने थे ये अग्नि परीक्षा थी जहां तुम्हें उत्तर होना था वहां तुम चूक गए चौथा शिष्य झुका बौद्ध धर्म के चरण छुए कुछ बोला नहीं मार्ग पर चल पड़ा यह यात्रा मंजिल तक पहुंच गई ये सरिता सागर तक पहुंच गई शिष्य ने अपने शिष्यों से पूछा किस बिंदु पर उमोन का शिष्य मार्गचित हुआ था मैं भी तुमसे यही पूछता हूं किस बिंदु पर उमोन का शिष्य मार्गचित हुआ और अगर तुमने सोचा तुम भी मार्गचित हुए सोचना मत देखना देखो तो चीजें साफ है सोचो तो सब धुंधला हो जाए सोचना अंधेपन का एक ढंग है देखना आंख सोचना उलझन है इसलिए कहानी यहीं पूरी हो जाती है शिष्यों ने क्या उत्तर दिया शिष्य को कहानी नहीं कहती गजब के शिष्य रहे होंगे जहां उमोन का शिष्य चूक गया वहां शिशिन के शिष्य नहीं चूके कहानी प्रश्न पर ही पूरी हो जाती शिशिन ने पूछा और कहानी कुछ आगे नहीं कहती कि शिष्यों ने क्या कहा कहते तो भटक जाते उत्तर दिया कि गलत हुआ बोले कि चूके जहां उमोन का शिष्य हार गया वहां शिशिन के शिष्य जीत गए इसलिए आगे कोई उत्तर नहीं मैं भी तुमसे यही पूछता हूं सोचना मत देखना देखना समग्रता है तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व आंख बन जाता है सोचना हमेशा खंड खंड है खोपड़ी सोचती है और ध्यान रहे तुम खोपड़ी के बाहर हो खोपड़ी के भीतर नहीं काश तुम खोपड़ी के भीतर होते तो दर्शन शास्त्र काफी था उत्तर किताबों में लिखे तुम खोपड़ी के बाहर हो खोपड़ी से बहुत बड़े हो खोपड़ी तुम्हारे भीतर है तुम खोपड़ी में नहीं तो तुम उसका उपयोग कर सकते हो एक सेवक की भांति जैसे ही तुमने उसे मालिक बनाया कि तुम चूके और बुद्धि का लक्षण कि वो खंड खंड है वो कभी हां पूरा नहीं कहती और कभी ना पूरा नहीं कहती वो दोनों साथ साथ कहती अगर तुम गौर से देखोगे तो तुम्हारे सब लब्धिक उत्तर हां और ना दोनों को साथ साथ लिए होते कभी हां ज्यादा प्रकट होता है ना छिपा होता है कभी ना ज्यादा प्रकट होता है हां छिपा होता है आस्तिक के भीतर नास्तिक बैठा रहता है नास्तिक के भीतर आस्तिक बैठा रहता है दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है कोई ऊपर है कोई नीचे है बस इतना ही फर्क है बाकी दोनों मौजूद है और जो भीतर छिपा है कल बाहर आ सकता है और जो आज बाहर बैठा है कल भीतर जा सकता है ये समय की बात है परिस्थिति बदल दे सकती लेकिन एक और ढंग है उत्तर देने का वो है समग्रता से विचार से नहीं सुनी तुमने ये कहानी क्या तुम्हें दिखाई पड़ता है कि कहां चूक गया शिष्य गुरु ने देखा और शिष्य ने आंखें बचा ली बस वहीं प्रतीक्षा करना गुरु कब देखे बड़ी पुरानी कथा है सूफी फकीर बायजीद अपने गुरु के पास थे एक साल बीत गई गुरु ने उसकी तरफ देखा ही नहीं पूछा भी नहीं कि कैसे आए तुम होते तो कभी के भाग गए होते एक साल एक साल बाद गुरु ने पूछा कैसे आए बासिद ने कहा आप मुझसे भली भांति जानते मेरा उत्तर कुछ ज्यादा अर्थ का ना हो फिर और एक वर्ष बीत गया गुरु ने पूछा क्या करना बाजिद ने कहा राह देख रहा हूं जब आप कहेंगे करना शुरू करो और आप भली भांति जानते हैं कि क्या करना हो क्या नहीं करना एक साल फिर बीत गया और गुरु ने बाजिद के कंधे पर हाथ रखा आंखों में आंखें डाली और कहा सब हो गया तू तो तीन साल चुप बैठा रहा यही काफी तीन साल में क्या हुआ बाजिद को ठहरा शांत हुआ तनाव छोड़े प्रश्न गिरे गुरु के पास होने की कला सीखी और हर कदम पर जहां जरूरत हुई गुरु ने कुछ पूछा उस पूछने में उत्तर की अपेक्षा ना थी उस पूछने में सिर्फ स्वीकार था कि तू ठीक चल रहा है साल भर बाद पूछा कैसा आया गुरु ने केवल सूचना दी कि तेरा आना सार्थक है तू आया है तो कुछ लेके ही जाएगा साल भर बाद पूछा क्या करना है क्योंकि दो साल जो चुप बैठा रहा वो करने के योग हो गया उसकी क्षमता है अब अब उससे कुछ करने को कहा जा सकता है लेकिन तब भी उसने ये ना कहा कि मुझे क्या करना है क्योंकि जब तक तुम बताओगे कि ये करना है तब तक तुम्हारा मन जारी रहे तुम्हारी मांगी हुई मांग पूरी भी हो जाए तो भी तुम भटकोगे तुम जो चाहते हो वो गलत ही होगा इसलिए उसने कहा मैं क्या कहूं आप जो कहेंगे करूंगा जो इतना छोड़ने को राजी है जिसका समर्पण इतना भारी है तीन साल बीत जाने के बाद गुरु ने उसके कंधे पर हाथ रखा उसकी आंखों में देखा और सब हो गए अब कुछ करने को बाकी नहीं और तू जा जो मैंने तेरे साथ किया वही तो दूसरों के साथ कर क्या हुआ जहां उमोन का शिष्य चुप गया वहां बाजी नहीं चूका उसने प्रतीक्षा की उस क्षण की जब गुरु देखेगा जब किसी प्रज्ञा पुरुष की आंख तुम्हारी आंख में झांकती है तब उसका दिया तुम्हारे बुझे हुए दिए के करीब आ रहा है तुम अपनी ज्योति को यहां वहां मत बचा लेना तुम अपनी बाती को यहां वहां मत हिला लेना तब तुम सद के अपनी बाती को उसके सामने कर देना क्योंकि एक क्षण में ये दिए के पास आने से ज्योति का स्फुलिंग छलांग लगा लेगा घटना घट जाएगी फिर तुम अपनी हैसियत से जलोगे फिर तुम अपने तेल से जलोगे फिर तुम्हारी अपनी बाती होगी कोई ना तो बुद्ध जैसा हो सकता ना उमोन जैसा हो सकता है कोई जरूरत भी नहीं तुम तुम जैसे ही होगे लेकिन च्युत हो सकते हो उस क्षण से ये क्षण सत्संग का है उमोन का शिष्य वहां चूक गया जहां गुरु ने मौका दिया था सत्संग का वहीं चूक गया इसे सोचना मत इसे एक सुगंध की भांति अपने चारों तरफ घूमने देना एक ध्वनि की भांति इसे अपने भीतर गूंजने देना सोचना मत सिर्फ देखना ताकि किसी दिन जब क्षण तुम्हारे लिए आए और गुरु तुम्हारी आंख में झांके तो तुम न चूक जाओ आज इतना ही